सुख सारण आ गए क्या बोल उठा दस भाल किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल पहले तो सब वृत्तांत कहा उस बुद्ध विहीन विभीषण का जो देश जात का द्रोही है बागी भाई है रावण का फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेला है फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बन रहे हैं फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बन रहे सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध की शगण को लक्ष्मण जी को आ गई दया हमने जिस समय दुहाई दी मुख से भी कुछ संदेश कहा चिट्ठी भी लिखी विदाई दी हे नाथ राम तो अद्भुत है क्या कहे हृदय खो गया वहीं क्या कहे हृदय खो गया वहीं जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं चरणों की छवि देखे बनते वर्णन में तनिक न आती है कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी बस बार बार ही जाती है से रघुकुल भूषण मुस्कुरा कर लंका की ओर हेरते थे लंका की ओर हेरते थे शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे नख सिख सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल शोभित जिनकी देह पर धूल और तरुछाल श्री महाराज अब तक तो थे रघुराय की चर्चा में हम अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम जिस ओर देखिए दृष्टि उठाओ अगणित ही भालू बानर है अगणित ही भालू बानर है दलबद्ध सभी रणमत्त सभी विकराल कराल भयंकर है दलबद्ध सभी रणमत्त सभी विकराल कराल भयंकर है सुग्रीव नील नल जाम्बुवंत हनुमान मयंद विधियंगद धम्राक्ष के सरी गय गवाक्ष दधिबाल सरभ सरभंग पुरद अगणित गर्जन तर्जन कर दहलाते व्योम धरा को है दहलाते व्योम धरा को है कर देंगे क्षण में खंड खंड जो देख रहे लंका को गए कर देंगे क्षण में खंड खंड जो देख रहे लंका को है नाथ कहाँ तक हम कहे उनके कथा अपार देख देख इस पर को कहते थे किलकार कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल भेजेंगे यमपुर रावण को भेजेंगे यमपुर रावण को वह छत्र मुकुट व सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को वह छत्र मुकुट व सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को श्री राम ने आज्ञा देते हैं अन्यथा अभी दिखला दे हम सेना समेत दस कंधर को दल डाले धूल मिला दे हम सेना समेत दस कंदर को दल डाले धूल मिला दे हम आसुरे सभा को उलट पुलट चोरी का स्वाद चखा दे हम सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दे हम सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दे हम जगदम्बा जगत जन जाया जननी सीता माँ को ले आए हम एकासन राजे राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम इस भांति हरण कर भूमि सूर नरमुन को कर दे निर्भय हम तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि श्री रामचंद्र की जय तब गूंज उठे त्रिभुवन में घन श्री रामचंद्र की जय सुनकर दूतों की कथा लखन पत्रिका बाँच हंसकर रावण ने कहा लिया शत्रु बल जाँच बानर भालों की चिंता क्या वह तो असुरों का भोजन है वह तो असुरों का भोजन है रावण से लड़ने आते हैं लड़कों का लड़कपन है रावण से लड़ने आते हैं लड़कों का लड़कपन है देखो तो छोटे तपसी को देखो तो छोटे तपसी को कैसे बकवादे करता है मृगशावक सच के छूने को चौकड़ी छलांगे भरता है मृग सावक सच के छूने को चौकड़ी छलांगे भरता है उन बलवालों में बानर में छोटे से लालों में ऐसी शान बात बताते हैं आला ऐसी शान बताते हैं आला और बोला मैंने अब तक टाला फिर भी संदेश धमकी वाला दे डाला दंड मचाया है काल ले आया है इतराते हैं भड़काते हैं ज्वाला मैं वह हूँ निराला रण मदवाला पहनाती रण देवी आई जिसको जय की माला उन बल वालों में बानर में छोटे से हैं लालो भी ऐसी शान बातें बताते हैं आला हाथ बांध सुख ने कहा सुनिए निश्चर राज रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज कुछ हो नहार है लंका में यह हमें दिखाई पड़ती है जो भले बात भी नाथ तुम्हें विष जैसे कड़वी लगती है संशय के रहे बात है क्या जब स्वयं देख हम आए हैं निश्चय ही अपने ताकत से वे जोड़े और सवाए हैं सीता को दे दीजिए संधि जग में यदि जीवित रहना है अन्यथा हमें यह दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है हम जिसे तपस्या कहते हैं वह योगेश्वर है भूतल में तोड़ेंगे हमें खिलौना सा जब खेलेंगे युद्ध स्थल में रक्तवर्ण रावण हुआ नेत्र हो गए लाल लात मार दरबार में दोनों को दिए निकाल यह भी लाए रघुबीर चरण यह भी लाए रघुबीर शरण सब बेटे बतलाई अपनी रघुराए के अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी सुख सारण रिथ थे साप विवश लंका में रहे अज्ञ होकर अब साप मिटा आश्रम पहुँचे करुणानिध के कृतज्ञ होकर विनयन सागर ने सुनी बीत गए दिन तीन तब उठे प्रभु ऊब कर रहन सके आसीन बोले भय बिना होती न प्रीत इस कारण बाण चलाना है इस कारण बाण चलाना है फिर बाण कौन सा अग्नि बाण पानी में आग लगाना है फिर बाण कौन सा अग्नि बाण पानी में आग लगाना है यह कहकर बाण चढ़ाया जब धनवा का जब टंकार हुआ जलचर दल सारा यकुलाया सागर में हाहाकार हुआ सागर में हाहाकार हुआ जल के भीतर जब आग उठे नहरों के ऊपर झाग उठे फूटी वह ज्वालामुखी वहाँ पानी के सोते जाग उठे फूटी वह ज्वालामुखी वहाँ पानी के सोते जाग उठे ऊपर से प्रभु की क्रोधानल नीचे से भड़की बलवानल दो अनलों से जब आया खल तब फैले सागर में खलबल अब तो कंचन थाल में मणिगर भरे अनूप आया शरण कृपाल के धर्मानव का रूप